ओमाप्यायन्तु माङ्गानि प्राणश्चक्षुस्तोत्रमथो उपनिषद द्वितीय अध्याय इक्कीसवें खंड के द्वितीय मंत्र तक कुछ विचार हुआ जिसमें इस इक्कीसवें खंड में कहा तीन तीन करके पांच हैं त्रय विद्या हिंकार ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये तीन विद्या इस दृष्टि से हिंकार की उपासना और इमेलों का प्रस्ताव त्रय इमेलों का भूर भुव स्व तीन लोक इस लोक दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना अग्नि वायु आदित्य इस देव दृष्टि से उद्गीत भक्ति की उपासना नक्षत्राणी बयांशी मरीचय कहा तारे हैं पक्षियां हैं सूर्य किरण हैं इस दृष्टि से प्रतिहार भक्ति की उपासना सर्पा गंधर्वा पितर माने सर्पा गंधर्वा पितर तीन तीन है तो इस दृष्टि से निधन भक्ति की उपासना ये शाम सब में प्रतिष्ठित है बोला सारे संसार में प्रतिष्ठित है शाम कहा अगले द्वितीय मंत्र में कहा था स या एवं एतत् शाम सर्वस्व प्रोतम वेदा जो कोई भी व्यक्ति इस शाम को झंकार आदि शाम को सब में प्रोत है ऐसा समझता है तीन तीन त्रिक करके जो दृष्टि से किया गया शाम क्यों शाम का संस्कार हो जाता है तब तक दृष्टि करने से जैसे कर्म के अंग होता है आज्ञावेक्षण घी का दर्शन करना कृत छाया देखना उससे क्या होता है विकृत शुद्ध हो जाता है इसी प्रकार यह शाम शुद्ध हो जाता है यह दृष्टि करने से तो सर्वम भवती वो सर, क्या होता है वो सर्वेश्वर होता है यहाँ सर्वरूप होता है ऐसा नहीं है क्यों सर्वरूप होने पर आगे फल वाक्य जो आएगा वो मिलेगा नहीं उसको क्योंकि आगे सारे दिशाओं के दिशस्थ व्यक्ति प्राणी उसको बलि देते उपहार देते हैं बोले रूप हो गया तो उपहार कौन देगा किसको लेगा कौन लेगा इसलिए सर्वेश्वर होता है अर्थ करना सर्वम भक्ति का होती सर्वेश्वर भगवती अर्थ करना ही बताया आगे मंत्र है तदेश श्लोको यानी पंचधा त्रीणी त्रीणी देव्यो न जाय परम अन्यदस्ती तदेश श्लोको यानी पंचधा त्रीणी त्रीणी तेभ्यो न जाया परम अन्यदस्ति तस्मिन विषय तद यहाँ तस्मिन तस्मिन विषय उस विषय में कि जो पांच त्रिक हैं इस विषय में ऐसा श्लोक माने ऐसा मंत्र आगे मंत्र भी है ये क्या मंत्र है यानी पंचदा त्रीणी त्रीणी जो पांच प्रकार है तीन तीन करके एक एक प्रकार है त्रय विद्या त्रयलोक अग्निवायु आदित्य नक्षत्र व्याम सर्प सर्पचंद्र पितल इत्यादि जो पांच त्रिक है पंचदा पांच प्रकार है किंतु प्रत्येक में तीन तीन है त्रीणी त्रीणी प्रत्येक में तीन तीन है तेभ्यो न जाय इससे बढ़कर कोई प्रशस्तर व्यक्ति नहीं है ज्या आदेश हुआ है प्रशस्त शब्द को ज्या सूत्र से ज्या आदेश हुआ है और ज्यादा भी यस का लोप हो गया यश उनका इकार चला गया जायस शब्द बना ये नपुंसक लिंग है तेभ्यो न जाया इससे प्रशस्ततर और कोई है नहीं सबसे प्रशस्ततर प्रशस्त मात्र में अतिशय प्रशस्त यही है परम अन्य अन्य कुछ भी नहीं इससे कोई विशेष वस्तु कुछ नहीं है ये बता दें टीका में कहते हैं सर्व विषय सामविधा सर्वेश्वरतम इतत्र समाधे भी कहा जो सर्वे सर्व विषय साम दृष्टि है इसका फल होगा सर्वेश्वर होना सर्वम भवती आएगा तो सर्वेश्वर हो जाना फल बताए इस विषय में आगे मंत्र भी बोलता है बोला आगे मंत्र कहता है क्या तदेश श्लोक वाले मंत्र है इत्यादि भाष्य में कहा तब ये तस्वीर आते इसी विषय में जो सर्वेश्वर के विषय में ये श्लोक माने मंत्रों की अस्थि श्लोक शब्द का मंत्र ये मंत्र भी है क्या है यानी पंचरा पंच प्रकार संख्याया प्रकारार्थ था विधाते था संख्यावाचक शब्द से विधा मैंने प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय होता है पंचधा मैंने पांच प्रकार यानी पंचधा माने पंच प्रकार पांच प्रकार से हिंकारादि विभाग ही प्रोक्ता हिंकार प्रस्ताव उदगीत प्रतिहार निधन ये पांच भाग में विभाग किया गया प्रोक्ता ने कहा गया है अहंकार आदि विभाग से तीन तीन करके एक एक तीन को हिंकार माना तीन को प्रस्ताव माना तीन को उदगित माना तीन को प्रतिहार तीन को निधन ऐसा प्रोक्तानी त्रिणी त्रिणी कौन तीन है तो कहा त्रय विद्यादि ने त्रय विद्या हिंकार इत्यादि बोला था त्रय में लोग का प्रस्ताव इत्यादि शब्द है त्रय विद्यादि ने त्रिविद्या आदि जितने तेभ्य पंच त्रिकेभ्य जो पांच त्रिक में जो बताया गया तीन तीन का पांच है ये तो इसे पंच त्रिकेभ्य जायो बने महत्तरम अतिशय महान कोई है ही नहीं इससे अधिक महत्तरम व्यतिरिक्तम अन्य वस्तु नास्ती इससे अतिरिक्त महान वस्तु कोई भी नहीं न विद्यते तत्र ही सर्वस्व अंतर्भाव ये पांच में सारे संसार का अंतर्भाव हो जाता है ये पांच का पांच में तीन तीन त्रिक करके उपासना की हो तो सबकी उपासना हो जाती है तत्रैव उसी में सर्वस्व अंतर्भाव सबका अंतर्भाव हो जाता है ठीक है मैं कहा परम इत्यव व्याख्यान अन्य मंत्र में जो परम अन्य अस्थि ऐसा दो है परम भी है अन्य भी है तो ये परम का ही व्याख्या है अन्य परम दूसरा तो उसे अन्य शब्द की व्याख्या कर मंत्र ने कहा परम शैव व्याख्यान अन्य विधि अन्य शब्द का अर्थ वही है परम का ही है वस्तुअंतराभाव हेतुअंतराभाव हेतु महा अन्य वस्तु के अभाव में ये पांच से छोड़ करके अतिरिक्त कोई पांच त्रिक से अतिरिक्त वस्तु नहीं इसमें कारण कहते हैं क्या तत्र वही सर्वस्व अंतर्भाव ये पांच त्रिकों में सारे के सारे का अंतर्भाव है कोई भी संसार में वस्तु होगा ये पांच त्रिक में से कोई न कोई एक में अंतर्भूत हो जाएगा ये कहा सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व तत्शब्दार्थ तत्र बने तत्र तत्शब्द का अर्थ क्या सर्वज्ञ और सर्वेश्वर वही वाला है तत्शब्द का अर्थ यही है उसी में सब, सब अंतर्भूत हो जाता है इसे कहा फलवाक्य फल वाक्य बताते हैं यस्तवेद सवेद सर्वम सर्वादिशोपलिम् अस्मै हरन्ति सर्वमस्मीति तत्व्रतम तद्व्रतम् तद्व्रतम् स वेद सर्व सर्वातिशोपलिम अस्मय हरती सर्वस्मी उपासी तद्रतम तद्रतम यद सवेद समेत इसी पांच त्रिक को जो जानता है वही सबको जानता है यद सर्वात्मक शाम जो पूर्व में था कहा था सर्वात्मक शाम को जो जानता है सवेद सर्वम सबको वही जानता है सर्वम सवेदा और फल क्या होगा तो कहा सर्वादिशो अस्मय बलि हरंती सम या दिश शब्द का अर्थ था लक्षण वृत्ति से लेना या दिश शब्द का अर्थ दिशस्थ दिख में रहने वाले दिशा तो कोई उपहार भेद नहीं देगी कौन देगा उन उन दिशाओं में रहने वाले प्राणी लक्षणावृत्ति से होता है शक्य वृत्ति से नहीं लक्षणावृत्ति से दिशा कुछ नहीं देगी दिशस्थ व्यक्ति देंगे प्राणी दिक्प स्थित जो व्यक्ति है दिष्ठ ऐसा सर्वा दिशा सारे दिशाएं मैंने सारे दिशाओं में जो दस दिशाएं हैं दस दिशाओं में जहां भी रहने वाले हैं सबके सब प्राणी अस्मय बलि भरती इसके लिए उपहार देते हैं भेंट देते हैं बलि मान भेंट उपहार देते हैं सर्वम अस्मी उपासित तत्प्रथम उसके लिए ये व्रत होगा मैं सब कुछ हूं सर्वम अस्मी ये भावना बनाए सर्वम अस्मी इति उपासित इस प्रकार उपासना करे तब व्रतम तब व्रतम ये उसके लिए व्रत है ये उसके लिए व्रत है ऐसा कहा भाष्य में कहते हैं यद यथोक्तम सर्वात्मकम साम वेद ये पूर्वोक्त साम है पांच प्रकार तीन तीन विभाग करके जो सर्वरूप साम है इसका सर्वरूप साम का जो उपासना करता है सवेद सर्वम वो सबको जानता है और स सर्वज्ञ भवती वो सर्वज्ञ भी हो जाता है स्वरूप होगा तो सर्वज्ञ होगा वो ये फल होगा सर्वादिशा सर्वदीक्षा ये लक्षणावृत्ति है सर्व दिशा शब्द का अर्थ बाच्य अर्थ से दिशा आना चाहिए किंतु दीक्षा बोलते दीक्षा में रहने वाला लक्षणावृत्ति से अर्थ सर्वादिशा मैंने सर्वदीक्षा अस्मयी एवं विदे इस प्रकार के उपासक के लिए बलिम माने भोगम जो भोग वस्तु है बलि शब्द का अर्थ उपहार भेंट ये होता है हरंती प्रापयती हरंती का प्राप्ति प्राप्त करवाते हैं सारे प्राणी उसको बलि प्राप्त कराते हैं भेंट प्राप्त कराते हैं सर्वम अस्मि भवामी मैं सब कुछ हो जाऊं होता हूं इतम इति एवं ये तब शाम उपासित इस प्रकार की शाम उपासना करे मैं सब कुछ हूं ऐसा तस् एतद एतदेव प्रथम यही है धीरुक्ति शाम उपासना समाप्त करता है दो बार कहा कि पांच भौतिक साप्त भक्ति माध्यम से पहले पांच भौतिक शाम की उपासना फिर आगे साप्त भौतिक शाम की उपासना आई उदगित उपासना से लेकर के शाम उपासना ही चल रहा था तो शाम उपासना समाप्ति हो जाती है इसलिए तद्व्रतम तद्व्रतम दो बार कह दिया आगे और कुछ कहना है अभी शाम उपासना समाप्ति हो गई ये कहा टीका तो है नहीं आगे कहते हैं टीका में कहते हैं सामोपासनम समाप्तम चेत किम उत्तर ग्रंथ है ना इतिहास यदि शाम की उपासना पूरी हो गई है तो फिर आगे के ग्रंथ से क्या लेना है समाप्त तो करो ग्रंथ को यही तो शंका आ गई तो कहते हैं उत्तर देते हैं शाम उपासना प्रसंग है ना भाष्य में शाम की उपासना के प्रसंग से प्रसंग है शाम की उपासना का चल रहा था उस प्रसंग से गान विशेषादि संपद उदात उपदेश गान विशेष उद्गान किस प्रकार करना है किस वर्ण का उच्चारण कैसा करना है स्वर वर्ण है उष्व वर्ण है व्यंजन है किसका कहा उच्चारण करना किस प्रकार करना तो गान विशेष उद्गान विशेष गान विशेष वो भी साम संबंधी है गान विशेष गान विशेष आदि संपद उपासना संपद उपासना बताई जाती है उपासना प्रतीक उपासना संपद उपासना और अध्यास उपासना ये होता है तो प्रतीक उपासना तो मूर्ति आदि है अध्यास उपासना मनोब्रमित उपासित आदि है संपद उपासना गुण गुण डालकर उपासना करना गुण का आरोप करके करना ये संपद उपासना है गान विशेषादि संपद उदगातुर उपदेश संपद उपासना उदगाता के लिए उपदेश होता है उदगाता को कैसे उदगान करना चाहिए किस वर्ण का उच्चार कैसे करना चाहिए किस वर्ण में कितना प्रयत्न लगाना चाहिए बाह्य प्रयत्न क्या है आभ्यंतर प्रयत्न क्या है स्थान क्या है सब ठीक ठीक उच्चारण करना चाहिए नहीं तो गलत हो जाएगा स्वर का उच्चारण उदात्त अनुदात सूर्य कौन सा स्वर है उस ढंग से उच्चारण होना चाहिए ये सब उद्गान करता के लिए कुछ नियम बताते हैं यह संपद उपासना बताना चाहते हैं करना गान तो विशेष आदि में आदि शब्द से क्या लेना कहा गान तो है ही है उदगान आदि शब्द टीका में आदि शब्द ना स्वर आदि जो वर्ण स्वर आदि जो वर्ण है स्वर व्यंजन आदि जो वर्ण है उनका भी जो वर्ण जिस स्थान का होगा जित प्र, जो प्रयत्न वाला होगा उसी प्रकार उच्चारण करना चाहिए ये सब बतलाना आएगा ये कहना चाहेंगे मंत्र है विनर्दिशाम नो वृणे पसव्यम अग्निरुद्गीत हो निरुक्त प्रजापते निरुक्त सोम से मृदुश्लक्षम वायु श्लक्षम बलव इंद्र से कंसम बृहस्पतेर्पध्वांतम वरुण से सर्वानेव उपसेवेत बालम पुनर्दिशा लोकृदे कृणे अग्नेरुद्गीथो अनुक्त प्रजापते निरुक्त सोम से मृदुश्लक्षम वायु श्लक्षम बलबल इंद्र से बृहस्पते अपध्वांतम वरुण से तान सर्वाने उपसेवेत वारुणम तेव वर्जय वर्जयेत बिनर सामनो वृणय कहते हैं बैल को कहते हैं नर्द बैल के समान शब्द ऐसे शाम का मैं स्वीकार वर्ण करता हूं ऐसा उच्चारण करने जा रहा हूं एक विनर्ति सामनो वृणय पशव्यम यदि ये पशुओं के लिए हितकर होगा जब बैल डुगराता है जिस प्रकार उस प्रकार से शाम को उच्चारण करेंगे तो पशु के लिए हितकर होगा बिना सामनो वृणय पशव्यम यदि पशुओं के लिए पशवे हितम पशव्यम पशुओं के लिए हितकर होगा उसको पसव्य बोला जाता है तस्में हितम यत प्रत्यय हुआ है उगवाद यत पशु के लिए हितकर होगा उसका बिना दिशा बैल को जो डुगराना होता है उस प्रकार का काम करना अग्नेर उद्गीता कहा अग्निदेवता संबंधी शाम होता है उद्गीत अग्निदेवता संबंधित तो उदगीत और अनिरुक्ता प्रजापति प्रजापति क्या शाम क्या होता है अनिरुक्त होता है माने स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं होता ऐसा उच्चारण करना चाहिए प्रजापति संबंधी शाम आएगा तो और निरुक्त सोमश्य सोम देवता सोम सोम के जो शाम है वो सोम देवता संबंधी शाम स्पष्ट है निरुक्त है मृदु लक्षण वायु कहते हैं कोमल है वायु का और उच्चारण में सरल लक्षण मृदु है सरल कोमल है उच्चारण में सरल भी है ऐसा वायु देवता का शाम होता है लक्षण विदर्भी विशिष्टो स्नर लक्षण बलवत इंद्र से कहा और माने उच्चारण में सरल है और बलशाली होगा प्रयत्न लगाना पड़ेगा बल या प्रयत्न इंद्र का शाम ऐसा होगा क्रौचम बृहस्पति क्रंच पक्षी के जो शब्द होगा उस प्रकार उच्चारण करना होगा बृहस्पति संबंधी शाम बृहस्पति और अवध्वांतम बर्व से टूटा हुआ बर्तन जिस प्रकार से आवाज करता है उस प्रकार बर्व का साम होगा उस गला ऐसा बना के उच्चारण करना होगा जो फूटा हुआ जो बर्तन होगा जैसा शब्द करेगा अपध्वांतम बर्वश्य कहा बर्तन जब फूट जाते हैं तो उसके बाद में जो शब्द आते हैं उसमें इस प्रकार के वरुण देवता संबंधी साम होता है तान सर्वान उपसेव्यता ये सारे शामों का सेवन करे उच्चारण में किंतु वारुणम तू एक वर्णित ये वरुण देवता संबंधी शाम का उच्चारण करेगा इसको त्याग बर्तन फूटा हुआ बर्तन जैसा उच्चारण करेगा ताम सर्वान ये जितने भी बताए गए सब शाम विनती आदि शाम का उच्चारण करे सेवन करे किंतु किंतु तू माने किंतु वारुणम एवं बर जाएगी वरुण संबंध वरुण देवता संबंधी शाम है उसको परित्याग करे कहा अच्छा तो भाष्य में कहा साम उपासना प्रसंग न गान विशेष आदि संपद उदगात रूप से ने कहा शाम का उपासना का प्रसंग चल रहा था उद्गान भी शाम का ही भाग है यद्यपि शाम उपासना समाप्ति हो उद्गान संबंधी बात है अब किंतु शाम का यह विषय है उद्गान भी तो गान विशेष आदि जो गान विशेष आदि है गान भी है साथ में स्वर आदि का भी जानकारी रखनी है तो संपद ये संपद उपासना है उदगातुर ये उदगाता के लिए उपासना कौन करेगा इसका नियम का पालन उदगाता करेगा किस तरह से उद्गान करना है उदगाता के लिए नियम किया जाता है फल विशेष संबंधात ऐसा करने से क्या फल विशेष के साथ संबंध होता है क्यों पशु के लिए हितकर होगा विनर्दिशाम हाँ, और अग्नि के लिए उदगित शाम हितकर होगा ऐसा सबका है फल विशेष संबंध है अब भाष्य का अर्थ करते हैं मंत्र भाष्य में अर्थ करते हैं बिनर्ति माने विशिष्टो नर्द स्वर विशेष विशिष्ट नर्द को बिनर्दी बोलते हैं माने स्वर विशेष को कहा बिनर्दी कैसा ऋषभ पूजित समूह बिनर्द शब्द का अर्थ बैल के गुंजन के समान जो बैल बोलता है दुबराता है इस प्रकार अश्य अस्थि ऐसा बिनर्द जिसका है उसको बिनर्दी बोलेंगे स्वर में जो बैल के समान स्वर करके बोलना होगा उद्गाता को उस शाम को कहेंगे विनर विनर गानम को गान है उद्गान करते समय ऐसे स्वर में करें गान यदि वाक्य शेषा यदि पशु के लिए भिपता है तो ऐसा करके करें तत्व सामना संबंधी पशु एक वो जो शाम है बिनर दिशाम बैल के उच्चारण के समान उच्चारण करता हो ऐसा उच्चारण करने से पशु के लिए हितकर होगा तच्च सामना उस तच्च सामने संबंधी उस शाम संबंधी पशु के हित वो शाम पशुओं के लिए हित है पसभ्यम कहा पशु हितम पसभ्यम पशु शब्द से यद करेंगे तो बनेगा पसभ्य अग्निर अग्निदेवत्यम च उदगीत अग्निदेवता संबंधी शाम होता है उदगीत उदगीत शाम होता है उदगानम ये उदगीत माने उदगान देवता संबंधी है तद अहम एवं विशिष्टम वृणय प्रार्थना ऐसे शाम के मैं प्रार्थना करता हूं उद्गाता पहले प्रार्थना करे शाम के उच्चारण से पहले प्रार्थय वृणय पानी प्रार्थय इति कश्चित यजमान उद्गाता व बनते ये बातें चाहे यजमान ऐसा मानता है शाम उच्चारण करने से पूर्व में या उद्गाता मानता है कश्चित कोई मानता है कश्चित यजमान उद्गाता बा चाहे यजमान मानता है इस बात को या उद्गाता मानता है अनिरुक्तो माने अमुक समय थी अविशेषित प्रजापति प्रजापति का शाम कैसा होता है अमुक जैसा नहीं होता जैसे पशु के लिए हित होगा कौन बैल के उच्चारण के समान उच्चारण शाम ऐसा शाम ऐसा अमुक जैसा करके कोई कहा नहीं जाता ऐसा शाम को कहा अनिरुक्त ये कहा अनिरुक्त हो मैंने अमुक समय उसके जैसा वो उस प्रकार ऐसा कहा नहीं जा सकता जिसका यदि अविशेषित सामान्य रूप से कहा विशेष रूप से नहीं कहा सादृश्य नहीं दे सके उसके समान करके ऐसा शाम जो होगा वो प्रजापति का होगा प्रजापति देवत्य हाँ, प्रजापति देवता संबंधी है वो सकाम विशेष वो भी काम विशेष है अनिरुक्त्याग प्रजापतिर प्रजापति का साम अनिरुक्त है माने अमुक के समान करके बताया नहीं जा सकता कोई दृष्टांत नहीं दे सकते किंतु निरुक्त माने पष्ट सोमस्य सोम देवता संबंधी साम पष्ट है निरुक्त माने पष्ट स्पष्ट स्पष्ट के आगे विराम को कार देना चाहिए आगे सोमस्य है या नहीं चाहिए निरुक्ता मैंने स्पष्ट सोमस्य मैंने सोमदेवत सोमदेवत्य सोमदेवता सुमन शाम स उदगीत है इतना वो उदगीत है कहा सोमदेवता सुमन स्पष्ट है अच्छा लक्षण च दानम वायोर माने सरल भी हो उच्चारण में भी सरल हो वर्ण भी सरल हो उच्चारण में भी सरल हो ऐसे शाम वायु देवता का होता है वायु देवत्यम तत्व शाम श्लक्षण बलवच्चा और इंद्र का शाम होता है उच्चारण में सरल और प्रयत्न अधिक लगता है बलवच्च माने बल माने प्रयत्न प्रयत्न अधिक रूपेतम अधिक प्रयत्न लगेगा आपको उस इंद्र के साम उच्चारण काल में चाहे इंद्र से माने इंद्रम तदगानम वो गान साम गान क्रौचम माने क्रौच एक पक्षी का नाम है पक्षी निनाद समम माने क्रौच माने क्रौच पक्षी के घोष के समान निनाद माने घोष के समान उच्चारण के समान जैसे चू चू करेगी वो उस प्रकार बृहस्पति बारस्पत्यम तक माने बृहस्पति संबंधी शाम को बारस्पत्य बोलते हैं अपध्वांतम भिन्न कांक्ष स्वर समान भेदन हुआ जो कांक्ष पात्र है कांक्ष कांस का बर्तन जो टूट गया हो उसमें जैसा शब्द आएगा भिन्न माने भेद भेदन हो गया जो टूट गया फूट गया ऐसा भिन्न कांश समम भिन्न हुआ जो कांस का पात्र है कांसे का पात्र है उसके जो स्वर निकलता हो उसके समान वरुण से वरुण देवता संबंधी शाम होता है वरुण देवता का शाम उस प्रकार गान करना होता है ये तत् गान भी गान है शाम गान है तान सर्वान एवं सभी शामों का सेवन करे उदगाता किंतु प्रयोजिता बारुणम तो एवं एकम वर्ज बारुण शाम का उदगान न करे उसको त्याग दे बाकी सब शाम का उच्चारण करे ये तो कहा टीका में कहा सामोपासन समाप्तम चेत की उत्तर ग्रंथ है ना ये पूर्वादि की शंका हो गई जो पूर्व भाष्य में बोल दिया था दुरुक्ति सामोपासना समाप्त करता बोल दिया था पूर्वभाष्य ग्रंथि में दो बार जो कहा तद व्रतम तद व्रतम जो बोला सामोपासना समाप्ति की देवता कर बताया तो पूर्व पक्षी शंका करता है कि सामोपासना पूरी हो गई हो तो फिर क्यों आगे ग्रंथ से क्या लेना आगे समाप्त करो तब कहा साम उपासना प्रसंगेरा गान विशेषादि संपत्ति उद्घात रूप से गान विशेषादि संपत्ति का यह उद्घाटा के लिए उपदेश किया जाता है कहा आदि शब्द ना स्वरादयो वर्णा गृहते आदि शब्द से वर्ण जो स्वर और व्यंजन हाँ, जो बयालीस वर्ण होते हैं स्वर व्यंजन मिलकर के तो वर्णों का भी लिखित होगा आगे से कहा उनका भी बताएंगे कौन वर्ण कैसा उच्चारण कर आगे बताएंगे किमित उदगातुर उदगातुर स्थिर उचित है तथा ये उदगाता को इस प्रकार की उपासना करने को क्यों कहा माने स्वरादि के उच्चारण के लिए क्यों कहा तो कहते फल विशेष संबंध ऐसा करने से फल विशेष होगा स्वरादि के ठीक ठीक प्रयोग करने से विशेष फल होगा ठीक है मैं आगे मृत्यु परिहार आदि फल विशेष फल क्या होगा मृत्यु का पार कर जाएगा ऐसे उद्गान करने वाला उद्गाता हाँ, मृत्यु से पार हो जाएगा तो फल होगा मृत्यु परिहार आदि मृत्यु का परिहार करने में समर्थ होगा उद्गाता फल विशेष तत्सबंधात फल विशेष संबंधात ऐसा उपासना अनुष्ठेय ये उपासना अनुष्ठेय है उद्गान संबंधी उपासना अनुष्ठेय उद्गाता तो मृत्यु का परिहरण करना परित्याग होना ये फल है आगे बताएंगे अज्ञा पशु हितत्व अश्य वचनाथ गमयितव्यम विनर्ति शाम का स्वीकार करता हूं ये पशु के लिए हित कर कहा पशु को हितम कैसे होगा हितत्व तो क्या है यही वचन से समझने है वचन है पसभ्यम करके आया पसभ्यम शब्द वहां पशु शब्द से यत प्रत्यय हित अर्थ में हुआ है तस्म हितम के अधिकार में है उगवादी को यत उभरांत है पशु शब्द उसे यत होकर के गुण होकर के पसभ्य बना हुआ है पशुभ्यो हितत्व अश्य वचना इसका एक वचन है यहाँ पशभ्यम ये वचन से जानना चाहिए कहा वाक्यस्तम इति शब्दम व्याचस्त वाक्य में इति शब्द है विनर्ति सामनो वृणे पशभ्यम इति मंत्र में जो इति शब्द लगा हुआ है पशभ्यम क्या है जो वाक्यस्त इति शब्द का व्याख्या करते हैं इति लगाने से क्या होगा इति कश्चित यजमान उदगाता था मंडित भाषण में कहा इस प्रकार माने कोई यजमान मानता है या उद्गाता मानता है मैं प्रार्थना करता हूं शाम के करके इति अविशेषिता इति शब्द अविशेष रूप से कोई भी हो सकता है माने यजमान भी हो सकता है ये प्रार्थना करने वाला अथवा उद्गाता भी हो सकता है विशेष नहीं इति शब्द आया अविशेष के लिए अनेन प्रकारेण अयम यदि विशेष विशेषितो व्यवच्छिद्य ज्ञातो न भवती ये अनिरुक्त शाम का उच्चारण है माने अनेन प्रकार आयुर्वेद तो व्यवस्थित ज्ञातो न होती ऐसा अर्थ होता है अनिरुक्त का अर्थ ये इस प्रकार से करके इस प्रकार से यह शाम होता है कोई दृष्टांत नहीं मिलता जिसमें विशेष रूप से अलग करके ज्ञात नहीं होता है उसको कहा अनिरुक्त अनिरुक्त प्रजापति कहा था अनिरुक्त शब्द का अर्थ तस्य प्राजापत्य हेतु वो प्रजापति संबंधी शाम है अनिरुक्त शाम उसमें कारण बता दिया अनिरुक्त इत्यादि भाषा में कहा था आयोप्यात प्रजापते कहा अभी नील पीतादि भी निश्चित अवचनादित्य माने नील पीत आदि कुछ भी उसमें दृष्टांत नहीं दे पाए प्रजापति संबंधी साहब नीला होता है पीला होता है कुछ नहीं इसे अनिरुक्त बोल दिया न निरुक्ता अनिरुक्त अगर ऐसा जो जानने वाला जो उद्गाता होगा पहले प्रार्थना करता है उद्गान से पहले प्रार्थना करता है मंत्र है अमृतत्व देवेभ्य आगायामी आगाए आगाये आसा पितृभ्य मनुष्यभ्य विरोधकम पशुभ्य स्वर्गम लोकम यजमाय अन्नम आत्मने आगायानी एक मनसाध्यायन अप्रमत्तस्तु वीता अमृतत्व देवेभ्य आगायानी आगाए स्वरा स्वराम पितृभ्य आशा मनुष्यभ्य लोदकम पशुभ्य स्वर्गम लोकम यजमानाय अन्नम आत्मदे आगायानी एतानि मनसा ध्यायन् अप्रमत्तः उद्गान करने के पूर्व अवस्था में पहले चिंतन करे क्या चिंतन करे उद्गाता अमृतत्व देवेभ्यो आगायानी इति आगाय मैं अमृतत्व का देवताओं के लिए अमृत अमर अमृत का आगान करूं ऐसा चिंतन करके इति आगामी उसके तो बाद मतलब आगाम करे उदान तब करे पहले चिंतन करे मैं अमृतत्व देवताओं के लिए आगान करूं ऐसा चिंतन करके उसके बाद में आगान करे और स्वधाम पितृभ्य पितरों लगे स्वधा का आगान करूं ऐसा चिंतन करके आगान करे आशा मनुष्यभ्य इष्टफल आशा जो चाहते हैं मनुष्य मनुष्यों के लिए जो इष्टफल होगा जो आशा का विषय होगा उसके जो चाहते हैं स्वर्ग पुत्र जो भी चाहते हों उसके लिए आगाम करूं ऐसा सोच करके आगाम करे आगायानी इति आगायत सब में लगेगा वो तृणोदकम पशु पशुओं के लिए वही होता है घास और जल तृणोदकम तृण और जल पशुभ्य आगायानी इति आगाय ऐसा आगाम करूं ऐसा चिंतन करे पहले उसके बाद आगाम करे स्वर्गम लोकम यजमान यजमान को क्या चाहिए स्वर्ग लोग चाहिए क्या कर रहा हो तो स्वर्गम यजमान आया स्वर्गम लोकम आगायामी इति आगा ऐसा मैं आगान करूं ऐसा चिंतन करके आगान करें आत्मने अन्नम आत्मने आगा अपने लिए अन्न का आगान करूं ऐसा सोच करके आगान करेंगे इति एतानी इस प्रकार ये मनसा सबके पहले मन में चिंतन करते हुए ऐसे आगान करूं ऐसा चिंतन करते हुए ये, ये फल इसी के लिए द्वितीयता मनसा अध्यायन मन से चिंतन करते हुए अप्रमत्ता संतोविता वर्ण का जो प्रयत्न है स्थान है आदि में प्रमाद न करते हुए अप्रमत्ता संत प्रमाद रहित होकर के जो वर्ण जहां से उच्चारण होना चाहिए जितना प्रयत्न खर्च होना चाहिए बाह्य प्रयत्न क्या है आभ्यंतर प्रयत्न क्या है सब मिला करके पाणी में शिक्षा में जो बताया हुआ है सब स्थान प्रयत्न आदि उसके आधार पर हाँ, स्तुभिता उसके बाद स्तुति करे ये अर्थ आया टीका में कहते हैं स्वर विशेष ज्ञान पूर्वकम उद्गान काले ध्यातव्य वर्तमान स्वर विशेष है पशुओं के लिए हितकर्म बिना दिशा स्वर और ऐसा ऐसा स्वर बताया पूर्व में दिशा हम और वृणे पसभ्य इत्यादि आया है तो स्वर विशेष ज्ञान है जिसको वही उद्गान करेगा कि शाम के लिए कौन सा स्वर का प्रयोग करना है वही स्वर विशेष ज्ञान वाला ही उद्गान करेगा स्वर विशेष ज्ञान पूर्वकम उद्गान काले स्वर विशेष ज्ञान है इस शाम का उच्चारण इस प्रकार करना चाहिए पूर्व मंत्र से सिद्ध आया हुआ है ऐसा व्यक्ति हो उद्गान काल में क्या करे पहले ध्यातव्य अर्थवान जो चिंतनीय विषय है पहले उसको बताते हैं क्या क्या चिंतन करके फिर उद्गान कब करेगा पहले चिंतन करेगा उसके बाद उद्गान करेगा एक अमृतत्व देवेद्यायन यहाँ ध्यातव्य वस्तु क्या है चिंतनीय वस्तु अमृतत्व है किसके लिए देवताओं के लिए देवता लोग अमृत पान करते हैं अमृतत्व देवेद्य अगयानी साधयानी सिद्ध करूं यह अर्थ है गात सात संसिद्ध सात धातु सिद्धि अर्थ में होता है लोट लगा मत उत्तम पुरुष एक वचन साधयानी जैसे भवानी वैसे साधयानी सात धातु है आगायानी माने साधयानी सिद्ध करूं ऐसा सोच करके देवताओं के लिए अमृतत्व की सिद्धि करूं ऐसा सोचकर ऐसा सोचकर हाँ। तो फिर स्वधाम पितृभ्य फिर आगाम करे ऐसे मान जी बाहर जाओ अच्छा तो स्वधाम पितृभ्य आगायानी ऐसा करे पितरों के लिए स्वधा का आगाम करो पितरों के कार्य पर स्वधा शब्द का प्रयोग होता है पिंडादि दिया जाता है स्वधा शब्द से दिया जाता है पितृभ्य स्वधा ऐसा बोलते हैं अग्नये स्वाहा देवताओं के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है और स्वधा शब्द पितरों को पिंड आदि देते समय होता है अच्छा ऐसा आगान करे तब आसाम मनुष्यभ्य मनुष्यों के लिए आशाओं की मनुष्य आशा रखता है इष्ट वस्तु की प्रार्थना करता है ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए जो चाहे मनुष्य वो चाह उसके चाहना के आधार पर आगामी कर जाता है आसाम मनुष्य आसाम मैंने प्रार्थना उनकी प्रार्थना होती है अमुक मिले अमुक मिले प्रार्थना होती है प्रार्थितम इत्य जो प्रार्थित वस्तु है जो चाहते हो तो उसके आगाम करूं ऐसा चिंतन करें तृणोदकम पशु पशुओं के लिए तो घास जल चाहिए और क्या चाहिए कोमल घास मिले जल मिले तो से तृप्त होते हैं पशुओं के लिए ऐसा आगाम करो और स्वर्ग लोगों का यजमान आया आगायानी ऐसा साधायानी ऐसा होगा स्वर्गलोक उद्गान कर्म के द्वारा यजमान को स्वर्ग दिलाने के लिए समर्थ हो जाऊं ऐसा चिंतन करेगा और अन्नम आत्मने कहा मह्यम आत्मने स्वयं के लिए अन्नम आत्मने मह्यम आत्मने मन मह्यम मेरे लिए अपने लिए आगायन इत्यादि इस प्रकार मनसा चिंतन इस प्रकार मन से चिंतन करते हुए और ध्यान चिंतन मन ध्यान चिंतन करते हुए अप्रमत्त किंतु उस काल में प्रमाद न करेगा प्रमाद क्या है कहते हैं स्वर उष्म व्यस्त स्वर व्यंजन उष्म तीन प्रकार के होते हैं ये उच्चारण आज को स्वर बोलते हैं उष्म वर्ण ससा सहा है बाकी को व्यंजन करके बोल दिए तो ये स्वर उसमें व्यंजनादि व्यस्त जो व्यंजनादि है अंतस्थ भी है ये सब वर्ण जितने भी हैं इनमें अप्रमाद करते हुए जो वर्ण जहां से उच्चारण होना चाहिए जितना प्रयत्न लगना चाहिए स्थान प्रयत्न को मिला करके हाँ, स्तुविता फिर स्तुति करने लग जाए उद्गान कर्म करने लग जाए उद्गाता के लिए नियम बताया टीका में कहते हैं स्वर उष्मा व्यंजनादिभ्य इत्यत्र आदि शब्द है स्वर उष्मा व्यंजनादिभ्य में आदि लगा दिया है तो आदि से क्या लेना कहते हैं स्थान प्रयत्न आदि संग्रह स्थान और प्रयत्न भी लेना किस वर्ण का कौन सा स्थान है किस वर्ण का क्या प्रयत्न है तुल्या से प्रयत्न सवर्ण सूत्र को भी समझ के चलना ये कह रहे हैं ऐसा समझ रहा है समझ के चलना ये बोला आगे मंत्र है सर्वेश्वरा इंद्र से आत्मा सर्वे उष्माण प्रजापतेरात्मान सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मा हम यदि स्वरे सुपालभेत इंद्रम शरण प्रपन्नो अभूव सत्वा प्रतिपक्षती ब्रूयात सर्वेश्वरा इंद्रस्यात्मान सर्वे उष्मा प्रजापतेरात्मान सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मान तम यदि स्वरे उपा उपालभेत इंद्रम शरण प्रपन्नो अभूव सत्व प्रतिवक्षति ब्रूयात वर्ण तीन प्रकार के स्वर है उष्म है और ये है स्पर्श है कादव मावसान स्पर्शा यही है क लेके म को पर्स बोलते हैं सस स उष्म होते हैं और स्वर होते हैं अच्छे जो होते हैं स्वर होते हैं उदात उदात स्वरित लगा हुआ होता है जितने भी स्वर हैं माने अच जिसको व्याकरण अच बोलते हैं आ ई ऊ दिल ए ओ आई औ स्वर स्वेन राजते स्वर अ के उच्चारण के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है स्वयं उच्चारण हो जाता है किंतु क के उच्चारण करना हो तो आकार भी चाहिए साथ में खाली क उच्चारण नहीं होता क बोलते समय अ आएगा ही अ के बिना क का उच्चारण नहीं होगा ऐसी स्थिति है वो व्यंजन है वो साथ में चलने वाले हैं हाँ, जैसे पेट भरते हैं दाल रोटी से किंतु चटनी होती है ना चटनी उसको व्यंजन बोलते हैं संस्कृत में तो थोड़ा स्वाद के लिए है सब किंतु मुख्य होते हैं स्वर स्वेद राज स्वरा नान्तरे नाचम व्यंजन से उच्चारण बहुत ही ऐसा आया है ये जो व्यंजन वर्ग है तैतीस वर्ग अच के बिना इनका उच्चारण कोई कर ही नहीं सकता चाहे क बोल रहा हो ख रहा हो की की कु कुछ भी बोल रहा हो अर्थ तो चाहिए चाहिए नान्तरे नाचम व्यंजन से उच्चारण बहुत ही अच के बिना व्यंजन के उच्चारण का ख गगा आदि उच्चारण होता ही नहीं अच लगेगा वो ख बोलो चाहे की बोलो कु बोलो के बोलो कई बोलो अच लगा हुआ है उसी बिना उच्चारण होता ही इसलिए उसको व्यंजन कहा दूसरे में आश्रित रहने वाले को व्यंजन कहते हैं चटनी व्यंजन है क्यों दाल रोटी में आश्रित है वो पेड़ तो दाल रोटी से भरा जाता है इसी प्रकार स्वेद राजते स्वर स्वर शब्द का अपने आप प्रतिष्ठित जो होता हो दूसरे का सहारा नहीं लेता हो उसको स्वर कहा जाता है अ बोलने के लिए किसी क आदि की आवश्यकता नहीं है अ विचार हो जाता है किंतु तो क बोलना हो तो अचाइए चाहिए तो <clears throat> सर्वे स्वर जितने स्वर है नौ है उसके माने आगे मात्रा भेद से अलग हो जाना है हर्ष दीर्घ प्लुत इत्यादि मात्रा भेद करेंगे उदात अनुदात सुरित और अनुनाशिक अनुनाशिक करेंगे तो अनेक हो जाएंगे चलो अठारह प्रकार तक गिना है उसको किंतु मुख्य रूप से ये नौ होते हैं वो नौ होते हैं एक एक अ ए ओ आई स्वर सर्वेश्वरा इंद्र से आत्मा इंद्र माने प्राण प्राण माने परमात्मा सर, परमात्मा तो परमात्मा का स्वरूप है ईश्वर हाँ, इंद्र माने प्राण है ऐसे भाष्यकार अर्थ करेंगे इंद्र माने प्राण प्राण माने परमात्मा अतएव प्राण ब्रह्म सूत्र में थान थान पर प्राण शब्द परमात्मा में प्रयोग होता है आकाश स्तलिंगात है ना आकाश शब्द ब्रह्म है कहा इस स्थान पर सभी जगह में यहां पर अमुख इसी स्थान पर कहा सर्वत्र तो नहीं भूताकाश आकाश होता है क्योंकि विशेष स्थान में कहा आकाश में इसमें तो ऐसा है तो सर्वेश्वर इंद्र से माने प्राण से कहा है उसका अर्थ परमात्मा उसके आत्मा है स्वरूप है परमात्मा के स्वरूप ईश्वर और सर्वे उष्माण प्रजापति आत्मान जितने भी उष्म पर है सह सल उष्माण कहा हुआ है व्याकरण में सल को उष्माण उष्म वर्ण कहते हैं सर्वे उष्माण सस सह ये जो होते हैं प्रजापति का स्वरूप है ये देवता के स्वरूप है सारे वर्ण स्वर तो जितने भी परमात्मा का स्वरूप है और उसमें वर्ण प्रजापति का स्वरूप है सर्वे स्पर्शा मृत्यु और आत्मा सभी स्पर्श वर्ण मृत्यु के स्वरूप है स्पर्श कहा दो तो मावसाना स्पर्शा तम यदि स्वरे उपा स्वरेश उपालभ है तो कोई अब तीन प्रकार के वर्ण हो गया आपके स्वर हो गया उष्म हो गया और स्पर्श हो गया उनमें से स्वर में कोई कहेगा तो गलत स्वर का प्रयोग कर रहा है करके उसे अड़कर्ता को बोलता हो तम उसको वो जो उद्गान करता को उद्गाता को यदि स्वरेश है तो कश्चित कोई व्यक्ति स्वर में उपालंब करे तुम गलत प्रयोग कर रहे हो करके उच्चारण करे ऐसा बोले कोई ठोके उसको उदगाता को उस स्थिति में क्या बोले उदगाता इंद्रम सर्वम प्रपन्नो अभुवम मैं तो इंद्र के शरण में हूं हो चुका हूं अभुवम लोग लगा मैं इंद्र के शरण में हो चुका इंद्र मैंने परमात्मा पर जो स्वर परमात्मा का स्वरूप है तो मैं इंद्र के शरण में हो चुका हूं स माने इंद्र त्वा मन त्वाम प्रतिवक्षति तुम्हारे उत्तर वो देगा इसका उत्तर तुम्हें वो देगा ऐसा बोल देगा मैं इंद्र के स्मरण में हूं वही इंद्र परमात्मा तुम्हारे उत्तर देगा इस बात का उत्तर देगा तो क्या गाली नहीं हाँ, वो सही उच्चारण करके बोल रहा है ऐसी स्थिति में कोई स्वर पर गलत दिखाएगा कोई तो ऐसा बोले वो उद्गाता क्योंकि तीन ही वर्णों का विचार किया स्वर उष्मा पर्श तीन है स्वरा इंद्र से आत्मा बोला है सर्वे स्वर वर्ण जितने भी हैं इंद्र माने परमात्मा है प्राण बोलेंगे प्राण माने परमात्मा परमात्मा का स्वरूप है ये अयुवादी परमात्मा है ऐसा उद्गान करता उस ढंग से उस भावना में गया हुआ है तो और सर्वे उष्माण प्रजापति आत्मा सभी उष्मा वर्ण प्रजापति का स्वरूप है आत्मा माने स्वरूप ऐसा भावना ऐसी भावना में है सर्वे स्पर्शा मृत्यु और आत्मा सभी स्पर्श वाला मृत्यु का स्वरूप है ऐसा आएगा तम यदि तम माने उदगातारम उस उदगाता को यदि कोई यदि माने यदि स्वरे उपालवे तो स्वर वर्ण में कोई गलत त्रुटि दिखाएगा तुम गलत बोलते हो करके बोलेगा कोई त्रुटि दिखाएगा कोई स्वर वर्ण उच्चारण में तो कहा इंद्रम सरलम प्रपन्नो रूपम ऐसा बोले मैं इंद्र के शरण में हूं परमात्मा के शरण में हूं क्योंकि स्वर परमात्मा रूप है तो स माने वो इंद्र परमात्मा त्वा माने त्वाम तुम्हें प्रतिपक्षति इसका उत्तर देगा इति एवं बुरिया जो उपालंब देने वाले के लिए ऐसा बोले दुर्गा ये कहा ठीक है केनापी भी आक्षिप्त किसी के द्वारा आक्षेप कर दिया वो स्वर वर्ण का उच्चारण कर रहा था कोई आगे आक्षेप कर दिया गलत उच्चारण कर दिया बोल दिया सही ढंग से उच्चारण कर रहा वो ऐसे आक्षेप किया भी किसी व्यक्ति के द्वारा आक्षिप्त आक्षिप्त हो गया कौन उदगातु जो उदगाता आक्षिप्त से उदगातु आक्षिप्त हुआ जो आक्षेप से युक्त हुआ जो उदगाता है उदगाता उदगान काले उदगान काले प्रतिकार ज्ञान आय स्वरादि देवता ज्ञान उपनिषद किसी के द्वारा उक्षिप्त हुआ आक्षिप्त हुआ उदगाता को उदगान काल में प्रतिकार करना उसको दूरी करना है इसको जानना है कैसे दूरी करना है इसके लिए स्वरादि देवता ज्ञानम उपनिषद स्वरादि का देवता समझना चाहिए स्वर का भी देवता समझना चाहिए उष्मा का भी देवता समझना चाहिए पर्श का भी देवता समझना चाहिए तभी वही देवता को सहारा से उसको कहेंगे वो उत्तर देगा ऐसा कहना पड़ेगा इसके लिए यही करते हैं सर्वेश्वरा इत्यादि कहा सर्वे स्वर अकारादय है स्वर माने होता है अ से लेकर के औ तक अंद्री ए ओ ये स्वर है भेद प्रभेद ज्यादा है किंतु एक एक वर्ण तो न हुई है ये सर्वे स्वरा मन अकारादय इंद्र से बलकर्मण प्राणस्य आत्मा देह अवस्थानीय इंद्र से मान बल कर्म वाला प्राण से जो प्राण है उसका आत्मा प्राण का आत्मा है देह के अवय स्थान है देह के अवय स्थान यह है सर्वे वर्ण कहा प्राण के शरीर के अवयव हैं एक एक अवयव है वर्ण ऐसा समझना है कहा और सर्वे उष्माणा सस सहा गया उष्मा वर्ण सस सहा यही होते हैं सड़ा उष्माणा पाणी नहीं बोला है उष्माणा सस सहा गया प्रजापदेर मान विराज प्रजापति विराट विराज कश्य पश्यपा चाहे वो विराट हो प्रजापति चाहे कश्यप ऋषि हो कश्यप ऋषि भी हो सकते हैं जो तो सारे संतान किसी को कश्यप ऋषि के द्वारा होते हैं सारे प्रजा ऐसा आया चाहे विराट हो चाहे कश्यप हो उनके स्वरूप ऐसा ससहा का सर्वे स्पर्शा कालयो व्यंजनानी सारे स्पर्श वर्ण माने क्या है ये कादी है कादी से क्या लेंगे पर्श से माने 25 वर्ण आना चाहिए किंतु जो यण है अंतस्थ है वो भी भीतर स्पर्श करते हैं स्पष्ट पर्श में होता और अस्पष्ट होता है ये सब पृष्ठ ईसत पृष्ठ थोड़ा छूटा है ना परसत तो करता है ईसत पृष्ठम अंतस्थानम बोला हुआ है स्पृष्ट पृष्ठ प्रयत्नम परसा ईसत पृष्ठम अंतस्थान अंतस्था का भी थोड़ा परसा होता है इसलिए परस नहीं ले गया उसको या वरला को यही है यहाँ सर्वे परसा कहा रही हो क से लेकर के आगे जितने हैं सल सल हो गया है बाकी क से लेके जितने बचे पच्चीस और चार उन्तीस बटा है या वर्ण चार बाकी पच्चीस है ये व्यंजना व्यंजन वर्ण मृत्यु और न मृत्यु के स्वरूप है ऐसा समझना तम एवं विदम उद्गातारम ऐसे ज्ञान जानने वाला उद्गाता है उसको यदि कश्चित यदि कोई व्यक्ति ऐसा आकर बोलता हो सुरेश तो स्वर में उपालंब देगा क्या उपालंब देगा स्वरस्त या दुष्ट प्रयुक्त ऐसा बोलेगा तुमने स्वर गलत प्रयोग किया ऐसा कोई बोलेगा ऐसे उदगाता को तो इति एवं उपालब्ध ऐसा उपालब्ध उपालब्धे ऐसा उपालंब करने पर वो ये कहे उसको इंद्रम माने प्राणम ईश्वरम इंद्र माने प्राण प्राण माने ईश्वर नहीं इंद्र के शरण में होने ईश्वर के शरण में हो शरणम आश्रयम उसमें आश्रित हो प्रपन्नो अभुभम स्वराम प्रयोजन है क्यों स्वर का स्वरूप है परमात्मा मैं उसमें अभी प्रयोग कर उसी का प्रयोग कर रहा हूं मैं आश्रित हूं स्वर में परमात्मा में आश्रित हूं स्वर स्वर का प्रयोग करता हुआ एक अहम मैं स्थिति में हूं स इंद्रो इंद्रवाणी प्राण परमात्मा यद तब वक्तव्य तुम्हारा जो वक्तव्य है क्या वक्तव्य है तुमने स्वर गलत किया ऐसा जो वक्तव्य है तुम्हारा तुम्हारे प्रति जो वक्तव्य होगा तो आत्मान प्रतिपक्ष जो कहना होगा वो कहेगा सएव देव उत्तरम दासी वही देवता जो जो स्वर का जो देवता है प्राण ईश्वर वही उत्तर देगा इति एनम दिया ऐसा इस उपालंब देने वाले को ऐसा बोल मतलब ऐसा कहा टीका में कहा सर्वेश्वर सस सहादय इति आदि शब्द तद अवान्तर भेदाभिप्राय कहते हैं सस सहादय जो कहा है भाष्य में हाँ उष्मा बल उष्माणा ससहार है तो उससे क्या लेना उसके आदि शब्द भी दिया वहां आदि से कहना उसको अवान्तर भेद ले लेना ससहादि का यब वक्तव्य अस्मात ऊर्धम तत्शब्दो द्रष्टव्य यब वक्तव्यम के आगे तत्शब्द लगाना चाहिए क्योंकि यद तत्व संबंध यद लगा हुआ है यद तब वक्तव्यम आगे त्वा उसके आगे तत्व त्वा बक्षति ऐसा होगा तत्शब्द देखना चाहिए कि यद और तत् का संबंध होता है आगे मंत्र है अथ यज्ञम ऊष्म सुपालभेत प्रजापति शरणो प्रपन्नो अभूवम सत्व प्रतिपेक्षति एनम ब्रूयात अथ येनम पर्षेशु पालभेत वृत्ति शरण प्रपन्नो अभूवम सत्वा प्रतिधक्षति इति एनम ब्रूयात अथ यदि एनम उष्मसूपालभेत प्रजापतिम शरणो प्रपन्नो अभूवम सत्वा प्रतिपेक्षति एनम ब्रूयात अथ यदि एनम स्पर्शेशु पालभेत मृत्युम शरण प्रपन्नो अभूवम सत्वा प्रतिदक्षती एवं ब्रूयात अतः अनंतर स्वर में उपालंब करे तो मैं परमात्मा के शरण में हूं ऐसा कहे वही उत्तर देगा बोलना अब अतः यदि यदि कोई व्यक्ति आकर के एवं उदगाता आरम इस उदगाता को जो उद्गान कर रहा है उसको उष्म से उपालन उष्म वर्म के विषय में तुमने सह सह का उच्चारण तुम्हारा ठीक नहीं है गलत प्रयोग करके ऐसे कोई बोले आक्षेप करे उष्मसु कर्मसु उपालभे का उपालभे को तो प्रजापति शरण प्रपन्नो अभुवम ऐसा बोले मैं प्रजापति के शरण में हुआ हूं अभी क्यों सारे उष्म वर्ण प्रजापति का स्वरूप है मैं उन्हें उसी उष्म वर्ण का उच्चारण कर रहा हूं प्रजापति का स्वरूप में बैठा हूं मैं ऐसा बोले उसको सत्वा सामान्य जो प्रजापति है जो उष्म वर्ण का स्वरूप जो प्रजापति है तो आम त्वाम प्रतिपेक्ष की तो मेरे को क्या पीस डालेगा प्रजापति किसा अभय में टुकड़ा टुकड़ा कर देगा ऐसा यदि एनम ब्रियाद इस उपालंब देने वाले के लिए ऐसा बोले अतः यदि एनम स्पर्शेश उपालभेद और कोई व्यक्ति आकर के स्पर्श वाला उच्चारण काल में कौशे से लेकर के या वाला तक जितने भी पर्श है उस काल में उपालंब तो करेगी तो गलत उच्चारण करता है बोले मृत्युम सर्वम प्रपन्न भूपम उस काल में परसवर्ण के देवता मृत्यु स्वरूप मृत्यु है मैं मृत्यु के सर्व में उस काल में ऐसा चाहे सत्व प्रतिधक्षति वही प्रति तुम्हें दहन करेगा ये नाम प्रिया इस प्रकार इस उपालंब देने वाले के बोले देता है भाष्य में कहते हैं अथ यदि एनम अथ मान अनंतर यदि एनम उष्मसु एनम मैंने उदगातारम इस उदगातारो उष्मसु उष्म वर्गम के विषय में तथा उपालम है उसी प्रकार जैसे पूर्व में उपालम था स्वर्ग के विषय में तथा मान उसी प्रकार उपालम है तो उस स्थिति में क्या बोले प्रजापति प्रपन्नो भूतम प्रजापति के शरण में हूं शरण माने प्रपन्न प्रपन्न और एक ही है सत्व प्रतिपेक्षति संचूर्णयति ऐसा है वही प्रजापति तुम्हारे लिए पेक्षति माने संचूर्णयिष्यति चूर्ण चूर्ण कर देगा इसलिए अवय विधातु है पेक्षति इति बुरियात ऐसा बोले उसको उपालंब देने ये नम माने उपालंब दातारम उपालंब देने वाले के लिए ऐसा बोले अतः यदि एनम स्पर्शेश उपालवेत यदि इस उद्गाता को पर्श के विषय में कोई त्रुटि बताए तो मृत्युम शरणम प्रपन्न अरूपम ऐसा कहे मैं वृत्ति के शरण में हूं इस काल में क्यों स्पर्श वाले के आत्मा स्वरूप है मृत्यु मैं उसी का उच्चारण कर रहा हूं मृत्यु के शरण में हूं सत्वा प्रतिधक्षति कोई तुम्हें जलाएगा भस्मी करिष्यति धक्षति का था दह दह भस्मी करने धातु है दह धातु का धक्षति बना है तो भस्मी करिष्यति यदि एवं उपालंब करता को ऐसा बोले कहा तथा सुरेश तथैव माने जैसे स्वर में कहा था उसी प्रकार उसमें वर्ण में उसी प्रकार इसमें पर्श वर्ण में इत्यादि बोला आगे बढ़ता सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य इंद्रे बलम ददानी सर्वे उष्माणो अग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्य प्रजापतेरात्मान परिदानी सर्वे स्पर्शा लेशेन अनभीता वक्तव्या मृत्योरात्मान परिहराणीति सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या इंद्रे बलम ददानीति सर्वे उष्माणो अग्रस्ता निरस्ता विपृता वक्तव्य प्रजापतेरात्मान परिदमानीति सर्वे स्पर्शा लेशेन अनभिता वक्तव्य मृत्युरात्मान परिहराणीति कहते हैं सर्वेश्वरा जितने भी स्वर का उच्चारण करे कैसा करे घोष बंतो बल बंतो घोष मान उच्चारण करते समय घोष प्रयत्न का उच्चारण करे बलवान मान प्रयत्नशील हो करके करे वक्तव्य ऐसा करके उच्चारण करे और इंद्रिय बलम ददानी थी ऐसा सोचे मैं इंद्र को बल का आधान कर रहा हूं स्वर के उच्चारण काल में ऐसा सोचे और सर्वे उष्मा जो जितने भी उष्म वर्ण का उच्चारण करता है उद्गाता उस काल में अग्रस्ता अनिग्रस्ता विवृता वक्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होना चाहिए स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए एक दूसरे का अग्रस्त होना चाहिए ग्रसित नहीं होना चाहिए एक दूसरे से जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए बहुत जल्दी करने पर जुड़ जाता है पता ही लगता क्या बोला है अग्रस्ता अनिरस्ता त्यागना भी नहीं चाहिए एक दूसरा जुड़ना भी नहीं चाहिए त्यागना भी नहीं चाहिए छोड़ना भी नहीं चाहिए जल्दी जल्दी में छोड़ देते हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए अनुवस्था विवृता पृथक पृथक करके उच्चारण करना चाहिए और प्रजापतिर आत्मान परिचय उनके उच्चारण काल में ऐसा सोचना चाहिए मैं प्रजापति को आत्मा का दान कर रहा हूं ऐसा समझे और सर्वे स्पर्शा जिस स्पर्श वालों का उच्चारण काल में कैसा सोचे लेसन अनभिहिता थोड़ा भी मिलना नहीं चाहिए वक्तव्य ऐसे बोलना चाहिए मृत्यु और आत्मान परिहरान ये भी मृत्यु से अपने को अलग करूं ऐसा सोचे उस काल में उसका स्वरूप है मृत्यु हाँ, तो मृत्यु से मैं अपने को अलग करूं आत्मान मैंने स्वयं को अलग करूं ऐसा सोच करके उच्चारण करे एक कहा टीका में कहते हैं देवता ज्ञान बोले ना उदगात्रा न प्रमत्तेर भवितव्यम कहा देवता ज्ञान आ गया तो हो सकता है कुछ मिलने के बाद में प्रमाण भी हो सकता है देवता का कान करना सीख लिया है तो कहें कमंड ना जाए प्रमादी न हो जाए बर्ल उच्चार में ढीलापना न करे इसके लिए कहना चाहते हैं देवता ज्ञान है ना देवता का ज्ञान हो गया किस देवता का कौन सा स्वर होता है क्या होता है उदगात्रा उदगाता के द्वारा न प्रमत्ते न भवितव्य उदगाता को प्रमादी नहीं होना चाहिए किसमें प्रमाद उच्चारण में प्रमाद नहीं करना चाहिए जो वर्ण जैसा है जो स्थान वाला जो प्रयत्न वाला उसी प्रकार और एक मात्रिक है द्वि मात्रिक है त्रिमात्रिक है उसी प्रकार उच्चारण करना होगा अर्धमात्रिक है स्थिति की है स्वरादिनाम हाँ, प्रमत न प्रमत्न भवे स्वरादिनाम अन्यथा उच्चारण है देवता भेद प्रसंग आना और अन्यथा उच्चारण करके भिन्न भिन्न प्रकार के देवता में भेद आ जाएगा अतः स्वरादि उच्चारण तात्पर्य कर्तव्य इसलिए स्वरादि में उच्चारण में तत्परता होनी चाहिए तत्परता या भाव तात्पर्य तत्परता को ही तात्पर्य बोलते हैं तत्परता होनी चाहिए कर्तव्य तो शिक्षा शिक्षक ये मंत्र भी उदगाता के लिए शिक्षक शिक्षा देता है उदगाता को कैसा होना चाहिए शिक्षा देता है यथा इत्यादि भाषण यथा इंद्रादि आत्मा स्वरादयो इंद्रादि स्वरूप है स्वरादि इंद्र स्वरूप है परमात्मा स्वरूप है और उष्म वर्ण प्रजापति स्वरूप है और स्वर वर्ष वर्ण जो होते हैं मृत्यु स्वरूप है यथ यस्मात् कारणात् इंद्रादि आत्मन आत्मा स्वरादे इंद्रादि के स्वरूप है ये स्वरादि अतः सर्वे स्वरा घोष बंतो बल मंत्रो वक्तव्या कहा स्वर ईश्वर का उच्चारण इसी प्रकार होना चाहिए <clears throat> कि घोष युक्त माने उच्चारण करते समय घोष आना चाहिए घोष और बलवान बल लगाकर बोलना चाहिए प्रयत्न लगाकर बोलना चाहिए कहा तथा उसी प्रकार अहम इंद्रिय बलम ददानी बलम आधानी ऐसा ऐसा भी समझे मैं इंद्र को बल का आधान कर रहा हूं ईश्वर के उच्चारण में इंद्र को बल दे रहा हूं बल का आधान करता हूं ऐसा समझे तथा सर्वे उष्माण जितने भी उष्मा अग्रस्त और अंतर अप्रवेशिता अर्थ भीतर में डूबा है नहीं उनको बाहर उच्चारण होना चाहिए स्वर्ग सल प्रत्यार उच्चारण ये नहीं कि ग्रस्त करके खा लिया हो उसको भीतर भीतर हम्म, कर दिया ऐसा नहीं होगा अग्रस्ता ग्रसित नहीं होना चाहिए अंतर अप्रवेशता भीतर में प्रवेश नहीं कराना चाहिए सल के उच्चारण जो होता है उसमें वर्ण का अनिरस्ता त्यागना भी नहीं चाहिए और बहिर अप्रक्षिप्ता बाहर फेंकना भी नहीं चाहिए मध्यम वृत्ति से उच्चारण करना चाहिए विपरीता विपरीत प्रयत्न पेता क्योंकि सल जो होते हैं विपरीत प्रयत्न वाले होते हैं ईश्वर विपरीत विपरीत प्रयत्न वाले होते हैं प्रजापतिर आत्मान परिदानी प्रयक्षानी प्रजापति के आत्मा का दान करता हूं प्रजापति को आत्मा का दान करता हूं ऐसे से कहा सर्वे स्पर्शा लेशे न सभी पर्श बड़ा थोड़ा सा सनकैर अनभिता शनई होता है कोई सनकई अकच लगाएंगे तो सनकई बन जाए शनई शब्द है अकच लगा दिया तो सनकई अब देगा सर्वनाम नाम अकच प्राप्त है ही अनभिता अनविक्षिप्त बाहर करके नहीं कर दिया मृत्युवर आत्मान मृत्यु से मैं अपनी रक्षा करूं ऐसा करके प्रयोग करे उसका कैसे रक्षा करे बालान वह समय का ही जैसे बच्चों को रक्षा करते हैं किसी भय युक्त व्यक्ति के द्वारा बच्चों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार सनई सनकई माने सनई धीरे धीरे परिहरण अपने को मृत्यु से अलग करते हुए धीरे से पर अलग करते मृत्यु और आत्मा ने परिहराण ये कहा मृत्यु से अपने को अलग करो ये सोच करके उच्चारण करे कहा ठीक है हम कहते हैं प्रयोग काले चिंतन एवं अर्थम कथा प्रयोग काल में जब उदगाता उद्गान करता है वर्णों का प्रयोग करेगा स्वर उष्मा और पर्श वर्ण का उच्चारण करता यही होते हैं पर्ण उस काल के लिए कहा तथा इत्यादि कहा तथा हम इंद्रिय बलम आग्रहण इत्यादि कहा यथोक्त रीत्या स्वराणाम प्रयोग अवस्थाया तथा का अर्थ किया तथा जो मंत्र में है भाष्य में तथा अहम इंद्रिय में है उसका इस प्रकार से स्वरों का प्रयोग अवस्था में ऐसा रहे आधानी यदि चिंतित आधानी चिंतन ऐसा चिंतन करे वो तथा इत उष्माम आगे फिर तथा सर्वे उष्माण आया तथा का अर्थ उष्माम प्रयोग अवस्था आया तथा शब्द का विवृत प्रयत्नों के प्रयोग कहते हैं उष्मा वर्ण के उच्चारण में विपरीत प्रयत्न लगाना चाहिए तथा भी ध्यातव्य दर्शित इसमें ध्यातव्य क्या है प्रजापते आत्मान परिगता यह होगा प्रजापति को मैं आत्मा देता हूं अति द्रुत उच्चारण न वर्णो वर्णांतरे यथा निक्षिप्तो भवती न भवती तथा प्रयोज्यमान अनभे निक्षिप्तत्व कहा ज्यादा शीघ्र उच्चारण करने से क्या होगा द्रुत मान शीघ्र अति द्रुत उच्चारण अति शीघ्र उच्चारण के द्वारा वर्णो वर्णांतरे एक वर्ण दूसरा दूसरे वर्ण में यथा निक्षिप्त न होती जैसे निक्षिप्त निक्षेप न हो जाए मिले नहीं इस प्रकार तथा प्रवृत्ति मानव उस प्रकार प्रयोग करने का नाम है अनभि हाँ, इसका अर्थ है अनभिनिवीक्षिप्ता इसका नाम परस वर्ण के उच्चारण में एक दूसरे वर्ण का मिलना नहीं चाहिए स्पष्ट होना चाहिए उच्चारण आपका मृत्यु और आत्मान यदि वाक्योपादन तस्थ मृत्यु और आत्मा में परिहराणी का इस वाक्य का अर्थ बताते हैं बालान व दृष्टान्त दिया जैसे बच्चों को आ, हाँ, किसी भयभीत वस्तु से अलग कर दिया जाता है अग्नि आदि से अलग कर दिया जाता है इसी प्रकार मृत्यु से अपने को अलग करूंगा यथा लोक जैसे लोक लोग क्या करते हैं लोग सनक ही जलादिभ्यो या सनैस अव्यय है अकच लगा करके सनक ही बोला है सनईश बोलो सनई बोलो सनकई बोलो बात एक ही है स्वार्थ में अगज होता है अव्यय सर्वनाम नाम अगज प्राप्त है अव्यय है ये अगज किया ठीक पहले बैठा दिया सनकई हो गया यदि अगज नहीं लगा तो सनई होता यथा सनक ही जिस प्रकार धीरे धीरे धीरे लोग क्या करते धीरे जलादिजो बालान पर जल आदि से बच्चों को अलग कर देते हैं दूर करते हैं डूबने का डर है अग्नि से जलने का डर है तो बच्चों को दूरीकरण करते हैं जैसे लोग लोग ये लोग सनक ही मान धीरे जलादि जो बालान परिहरती जलादि से बच्चों को अलग कर देते हैं जलादि में जाने नहीं देते अलग करते हैं ठीक इसी प्रकार तथा मृत्यु और आत्मान अहम परिहरण इसी प्रकार मृत्यु से मैं अपने को अलग करूं जैसे बच्चों को अलग किया जाता है जलादि से इसी प्रकार मृत्यु से मैं अपने को अलग करूं ऐसा यदि ध्यात्वा ऐसा चिंतन करके परसान प्रयोग कर्तव्य परस वर्णों का प्रयोग करना चाहिए यह अर्थ हुआ इस तरह से ये समाप्त हो जाता है आगे कुछ विशेष बातें बताएंगे मान शाम उपासना पूरी हो गई और शाम का उद्गान संबंधी नियम भी बता दिया गया अब आगे विशेष है ब्रह्मचारी गृहस्थ पान प्रस्थ सन्यासी आदि के विषय में चर्चा है तो चर्चा होने वाली अच्छा प्रकार आएगा